बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्तुगरुल हिंदुस्तान से उत्तर की तरफ हिमालय के उस पार तुर्किस्तान का मुल्क है इस मुल्क में कहीं ऊंचे नीचे पहाड़ हैं कहीं रेगिस्तान और कहीं कोसों तक ऐसे मैदान फैले चले गए हैं जिनमें घास के सिवा और कुछ नजर नहीं आता जाड़े में यहाँ ऐसी बर्फ पड़ती है कि जमीन और आसमान सब सफेद हो जाते हैं जब ये मौसम गुजर जाता है सूरज चमकता है बर्फ पिघलती है जमे हुए नदी नाले फिर उछलते कूदते पत्थरों से सर पटकते बहने लगते हैं तो मैदानों और पहाड़ों के ढलवानों पर घास उगती है और हर तरफ चहल पहल और रौनक नजर आती है लोग खुशियां मनाते और हर तरफ भेड़ बकरिया के गले चराते फिरते हैं तुर्किस्तान में शहर और कस्बे थोड़े हैं अक्सर लोग शहरों की गहमा गहमी से दूर इन्हीं मैदानों और पहाड़ों में उम्र गुजार देते हैं वो एक जगह जमकर नहीं बैठते आज जहाँ है कल वहाँ जहाँ भेड़ बकरियों के लिए चारा मिल गया वहीं कंबल तान कर डेरे डाल दिए उनके बहुत से कबीले हैं हर कबीले का सरदार अलग होता है और कबीले के सब छोटे बड़े उसके हुक्म पर जान कुर्बान कर देने को अपना फर्ज जानते हैं मेहनत मशक्क़त की ज़िंदगी ने उन लोगों के जिस लोहे के सांचे में ढाल दिए हैं उनकी बहादुरी और जियालेपन का ये हाल है कि आग के दरिया में कूद पड़ना और पहाड़ से टकरा जाना उनके नजदीक हंसी खेल है आज अगर तुर्किस्तान की हालत अच्छी नहीं इसके कई टुकड़े हो गए हैं एक हिस्सा रूस के कब्जे में है एक हिस्से पर चीन हुकूमत कर रहा है और थोड़ा सा इलाका अफगानिस्तान के माथा है लेकिन पुराने जमाने में इस मुल्क के लोगों ने बड़ी सल्तनतें कायम कर रखी थी बाबर और उसके बेटे पोते जो कई सौ साल हिंदुस्तान पर हुकूमत कर गए इसी नस्ल से थे और जिन दिलावरों ने तुर्की के नाम से यूरोप में एक सल्तनत कायम कर रखी है वो भी कौम के तुर्क और इन्हीं लोगों के भाई बन थे आज हम उन तुर्कों का हाल सुनाते हैं जो तुर्किस्तान से जाकर यूरोप में आबाद हो गए और आज तक उस सरजमीन में कदम जमाए खड़े हैं